इसके बाद विक्रांत तेजी से सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया सेकंड फ्लोर पर पहुंचते ही उसने अपने फोन के कैमरे को ऑन करके रिकॉर्डिंग पर लगा दिया तुमने मेरा सब कुछ ले लिया है मुझे पीठ भी लिया है अब क्या चाहते हो मोनिका ने रोती हुई आवाज में कहा बाहर आ फिर बताता हूँ क्या चाहता हूँ मैं इतना कहते हुए उस्मान ने अपनी जेब से मोनिका के घर की चाबी निकाल ली क्या हुआ भाई रात को आप लोग यहाँ क्यों आए हैं कुछ काम है क्या सीढ़ी से ऊपर आते ही विक्रांत ने कहा तू चल निकल यहाँ से चल फुट फालतू इधर क्यों टांग दे रहा है उन तीनों में से एक लंबे शख्स ने विक्रांत की तरफ देखते हुए विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा मेरा नाम करीम खान है मैं डोंगरी से आया हूँ इधर तो क्या करूँ तू डोंगरी से आया तो क्या करे अपन बोल बोला ना तेरे को निकल यहाँ से अभी यहाँ बीच में क्यों बोल रहा है साले तेरे को क्या मतलब अब उस्मान ने विक्रांत के पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा भाई ये मेरी बहन है बोलना पड़ेगा ना ऐसे कैसे मेरे से मतलब नहीं है ओ तो इसने तेरे को पैसे देकर यहाँ मेरे से निपटने के लिए बुलाया अच्छा तेरा नाम करीम है डोंगरी से है तू नाम तो कभी सुना नहीं तेरा सच में नहीं सुना विक्रांत ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए कहा उधर इलाके में मेरा नाम चलता है कोई भी दुकान वाला बिना मेरे परमिशन के धंधा नहीं कर सकता उधर ये सुनकर वो मोटा उस्मान जोर से हंस पड़ा फिर वो लंबा वाला आदमी बोल पड़ा उधर तो अपना भाऊ असलम रहता है उसका इलाका है वो सारे बड़े बिजनेसमैन लोग असलम भाई को हफ्ता देते हैं तू क्या फिर सब्जी वालों से हफ्ता लेता है <laughs> तीनों जोर से हंस पड़े अच्छा तो आप लोग असलम के भाई हो अच्छा उन्हें मेरा सलाम देना विक्रांत ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा क्या हुआ भाई यहाँ क्या बात हो गई है इन लड़कियों ने क्या किया है विक्रांत को इतने प्यार से बात करता देख उस्मान ने भी थोड़ी इज्जत दिखाई उसने विक्रांत को सारी बात समझा दी कि कैसे मोनिका ने उसके एरिया में जाकर बिना उसे बताए धंधा किया अच्छा रुको मैं पूछता हूँ इतना कहकर विक्रांत दरवाजे की तरफ बढ़ गया मुझे लगा कोई बड़ी बात है एक मिनट मोनिका जीनत दरवाजा खोलो मैं हूँ डरो मत खोलो जीनत ने खिड़की से ही विक्रांत को देख लिया था वो काफी डरी हुई थी लेकिन विक्रांत ने उसे इशारा करते हुए दरवाजा खोलने के लिए कहा दरवाजा खुलते ही विक्रांत उन तीनों को लेकर भीतर दाखिल हुआ फिर विक्रांत ने जीनत और मोनिका की तरफ हाथ करते हुए कहा हाँ तो उस्मान भाई ये दोनों लड़कियां अभी नई हैं इन्हें आपके बारे में कुछ पता नहीं है इसलिए ऐसी गलती कर बैठी अभी आप बताओ क्या कर रहा है इस मैटर को कैसे सेटल करेंगे कैसे सेटल करेंगे मतलब उस्मान ने गंदी नजरों से जीनत और मोनिका को देखते हुए कहा अब ये भी मुझे बताने की जरूरत है क्या ये सुनकर विक्रांत जोर से हंस पड़ा उसने लंबे वाले आदमी के हाथ में लेडीज बैग की तरफ देखते हुए कहा सही बात सही बात आप लोग खुद ही ये पैसे का बैग लौटाने के लिए आए तो जाहिर है कि आपको पैसे तो नहीं चाहिए हैं आ, मैं भी ना समझ नहीं पाया अच्छा तो फिर आप इन दोनों को ले जाएंगे विक्रांत ने जीनत और मोनिका की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा वाह कम से कम तुम तो थोड़े समझदार निकले ये दोनों आज मेरे साथ जाएंगी तो मैं ये मैटर सॉल्व कर दूंगा उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ हाँ बिल्कुल तुम चलो दोनों उस्मान भाई के साथ जाओ विक्रांत ने जीनत और मोनिका की तरफ देखते हुए कहा जीनत और मोनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो डरी हुई नजरों से विक्रांत और उन तीनों को देख रही थी नहीं नहीं ये क्या कह रहे हो तुम ये क्या कह रहे हो तुम मोनिका ने अपने शरीर को हाथों से छुपाते हुए कहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तुम भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो भले ही विक्रांत ने पहले ही जीनत को चुपके से कॉल करके सावधान कर दिया था लेकिन इस वक्त वो भी विक्रांत के इस व्यवहार से हैरान थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत इन गुंडों के साथ क्यों मिल गया है ये लड़की ज्यादा चालाक मत बन विक्रांत ने जीनत की तरफ देखते हुए उसे आंख मारकर इशारा किया जाओ तुम दोनों रेडी हो जाओ कपड़े बदलाओ और फिर उस्मान भाई के पास आओ मोनिका अपने कदम पीछे खींचते हुए विक्रांत से दूर जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी जीनत उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ खींचने लग गई किसी तरह वो मोनिका को लेकर अंदर बाथरूम में चली गई इसके बाद विक्रांत ने उस्मान की तरफ देखते हुए कहा उस्मान भाई मैंने आपका नाम सुना है लेकिन अभी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी आज आपसे मिलकर मेरा जीवन सफल हो गया भाई मुझे तो पता नहीं था कि मुंबई के इतने बड़े डॉन का दिल एक बार डांसर पर आ गया है अगर पहले पता होता तो मैं मोनिका को लेकर पहले आपके पास आ गया होता विक्रांत के मुंह से तारीफ सुनकर उस गैंगस्टर के चेहरे पर मुस्कान छा उठी उसका सीना गर्व से चौड़ा हो उठा आप वडाला इलाके में वसूली करते हो ना वहां के डॉन हो ना हाँ हाँ इसमें कोई शक है क्या उस मोटे काले उस्मान ने सीना चौड़ा करते हुए कहा विक्रांत ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा मैंने उनके बारे में सुना है वो बहुत बड़े डॉन है कहने को वो वडाला में वसूली करते हैं लेकिन उनका नाम पूरी मुंबई में चलता है बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है कहीं आप लोग उनका नाम लेके फायदा तो नहीं उठा रहे क्या बोल रहा है अबे तू उन तीनों में लंबा वाला शख्स बोल पड़ा हाँ मैं ऐसे नहीं होने दूंगा मैंने उस्मान भाई का नाम बहुत सुना है उन्हें लड़कियों की कौन सी कमी है वो भला क्यों किसी बार डांसर को धमकाएंगे मैं उनके नाम का गलत यूज नहीं होने दूंगा विक्रांत ने कहा तेरी तो क्या बकवास कर रेला है तू उस्मान बोल पड़ा देख मेरा नाम उस्मान है अखे मुंबई अपन को उस्मान सुपारी के नाम से जानती है मैं वडाला का भाई हूँ उधर से हफ्ता आता है अपन के पास समझा और तू सही बोल रही मेरी बीवी है घर पे फिर भी मेरे को इन लौंडियों में इंटरेस्ट आ गया है अभी अपन को इस लड़की के साथ जो भी करने का है वो करेगा अपन बोल क्या कर लेगा तू उस्मान के इतना बोलते ही उसके साथ में आया एक दूसरा आदमी जो थोड़ा गंजा भी था उसने अपना हाथ बाहर निकाल कर बाहें समेटना शुरू कर दिया मानो अब वो विक्रांत को मारने ही वाला था नहीं नहीं मैं नहीं मानता विक्रांत ने ना में सिर हिलाते हुए कहा मैं उस्मान भाई को जानता हूँ वो ऐसे कर ही नहीं सकते ऐसी ओछी हरकत तो वो कर ही नहीं सकते तुम लोग कोई और हो ये साले क्या बोल रेला है तू अब उस लंबे आदमी ने जोश में आते हुए कहा भाई इसको दिखाऊं क्या अभी घोड़ा तभी वो गंजा आदमी बोल पड़ा ओए तुझे मालूम नहीं है अभी भाई ने कितनों को टपकाया लग रहा है आज तेरा भी टाइम आ गया है उस्मान भाई का तो उधर बडाला में कोई बार भी चलता है मैंने सुना है बिना लाइसेंस के चलाते हैं पुलिस भी बंद नहीं करवा पा रही है ए साले पुलिस की क्या औकात क्या औकात उधर पुलिस वाले भी भाई को सलाम ठोकते समझा क्या लंबे वाले आदमी ने कहा लेकिन तुम लोग उस्मान भाई के आदमी नहीं लगते उधर बार में लड़की भी सप्लाई होती है मेरे को कुछ लोग बता रहे थे हाँ होती है भाई की सेटिंग फॉरन तक है उधर से आते आइटम और उधर घपाघप भी होता है बोल क्या कर लेगा अब उस गंजे ने कहा फिर विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा भाई का तो ड्रग्स का भी बिजनेस है मालूम है मेरे को अब अगर तुम लोग सच में उस्मान भाई हो तो बताओ किधर से आता ड्रग्स वरना मुझे तो लगता है तुम लोग झूठ ही बोल रहे हो ए क्या बकवास कर रहे है तू ये सब तेरे को किसने बताया भाई ने तो ड्रग्स का धंधा अभी शुरू करेला है दो दिन भी नहीं हुए तेरे को कहा से मालूम हुआ कौन बोला है तेरे को उस लंबे वाले आदमी ने विक्रांत को धमकाते हुए पूछा अच्छा हो गया तेरा अभी अब उन दोनों को सीनियर उस्मान सुपारी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा नहीं नहीं बस एक आखिरी सवाल था विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा बोल अगर मैं उस्मान सुपारी को कूट कर उसका पान लगा दूं तो फिर मैं भी भाई बन जाऊंगा ना बच्चे क्या बोल रहा है तू उस्मान भाई विक्रांत की तरफ आगे बढ़े तभी एक उड़ता हुआ घूसा उनके चेहरे पर पड़ा आई ए आ लगभग पांच मिनट तक रूम से धड़ाम ढम के साथ कुछ चीजों के टूटने फूटने की आवाज आती रही बीच बीच में लोगों के चीखने की भी आवाज आती रही जब जीनत और मोनिका बाथरूम से निकलकर बाहर आई तो यहाँ नजारा देखकर दंग रह गई यहाँ पर वो तीनों गुंडे अलग अलग कोने में पड़े दर्द से करहा रहे थे और विक्रांत कमरे में लगे आईने में अपनी शक्ल देख अपना बाल ठीक करना शुरू कर दिया जीनत को ये तक अंदाजा था कि विक्रांत कैसे भी करके इस मैटर को सॉल्व कर देगा लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि विक्रांत इस तरह से इन लोगों की पिटाई कर देगा इस तरह से विक्रांत का उन लोगों को पीटना इस मैटर को और खराब कर देगा हम्म, ये लो विक्रांत ने मोनिका का बैग उठाकर उसे देते हुए कहा मोनिका विक्रांत को थैंक यू सर बोलने वाली थी लेकिन तभी उसे याद आया कि विक्रांत ने ये जाहिर होने से मना कर दिया कि वो पुलिस वाला है मोनिका ने लपक कर अपना बैग पकड़ लिया और फिर विक्रांत की तरफ डरी हुई नजरों से देखने लगी तभी विक्रांत ने उस्मान सुपारी के बाल को पकड़कर चेहरा मोनिका की तरफ कर दिया इसने तेरे साथ बदतमीजी की थी ना मोनिका ने बिना कुछ कहे अपना सिर हाँ के इशारे में हिला दिया चलो तो इसे भी सबक सिखा दो तोड़ दो साले का मुंह इतना कहते हुए विक्रांत ने एक जोरदार घूसा आसमान के चेहरे पर रख दिया लेकिन मोनिका ने अब नाम में सिर हिला दिया उसके भीतर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उस्मान को थप्पड़ मार सके जीनत भी विक्रांत को रोकना चाहती थी वो कहना चाहती थी कि उस तरह उस्मान को पीटना खतरे से खाली नहीं है वो बेहद खतरनाक आदमी है लेकिन वो इस वक्त कुछ बोल ना सकी तुम लोगों को अभी और मार खाने का मन है क्या अभी तक यहाँ से गायब नहीं हुए विक्रांत ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा देख लूंगा तुझे उस्मान खड़ा हुआ और फिर विक्रांत को धमकाते हुए जाने लगा